ब्रह्म विचार सार माद्याम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी मभयदा जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थितां वंदेता तां भगवती भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमदी वेद के अंग छे अंग में से व्याकरण को कहा गया मुखम व्याकरणम प्रोक्तम मुख के समान है व्याकरण व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है वेद अध्ययन करने के लिए हो किसी शास्त्र अध्ययन के लिए मूल है वेद के मुख के समान प्रधान अंग है लघु सिद्धांत कवि के रचयिता कौन है वरदराज आचार्य सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की उसमें प्रवेश करने के लिए व्याकरण में प्रवेश करने के लिए आचार्य ने ये स्वल्प ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की सिद्धांत कौमुदी तो है सिद्धांता नाम कौमुदी सिद्धांत कौमुदी कौमुदी के शब्द बनाते हैं व्याकरण में आगे आएगा कु का अर्थ पृथ्वी मोदते कुमुद और कुमुदा नाम यमित कौमुदी कुमुद संबंधी जैसे कि पद्म पुष्प होता है और एक होता है कुमुद क्या कहते उसको पद्म के समान कुमुद होता है हम्म? लिली कहते हैं इंग्लिश में लिली हिंदी में कुछ क्या बोलते हैं पद्म के जैसे है कम कमल जैसे होता है कमल से भिन्न है वो कम कुमद उसको कहते हैं हिंदी में भाषा कोई मालूम है कि लिली इंग्लिश में तो लिली कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं आप बताओ नहीं मालूम नहीं मालूम है लिली क्या मालूम है लोटस होता है और एक लिली होता है लिली होता है कुमुद तो उसकी चंद्रिका कौमुदी हो गया चंद्रिका कुमुदा नाम ये मित कौमुदी पद्म पुष्प दिन में खिलता है ये कुमुदा तो चंद्र रात में खिल जाता है चौंद्रिक चंद्रिका है कौमुदी प्रकाशिका है सिद्धांत के कौमुदी सिद्धांता नाम कौमुदी सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत शब्द का आगे बताएंगे सिद्ध अंत ये शांत सिद्धांत साधु शब्द को प्रकाश साधु शब्द के प्रकाशिका सिद्ध अंत आदि का विग्रह बताएंगे पहले क्लिष्ट होता है लघु है जो सिद्धांत कौमुदी लघ्वी लघ्वी चार सौ सिद्धांत कौमुदी च इत लघु सिद्धांत कौमुदी जो सर्प काय लघ्वी स्त्रीलिंग में लघु का लघ्वी बन गया सिद्धांत कौमुदी इसमें तो ये मंगलाचरण ग्रंथ के अंतर्गत नहीं है शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम तो भी ये सरस्वती की वंदना है इसको मंगलाचरण रूप से रोज बनना है आगे नत्वाम सरस्वती देवी ये तो ग्रंथ का मंगलाचरण है शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम ये सरस्वती का विशेषण है शुक्ल रूप वाली शुक्ला है शुद्ध है शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा ब्रह्म विचार ब्रह्म का विचार विचार करने से ज्ञान होता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है ये सिद्धांत है ब्रह्म विचार का जो सार विचार में सार है विचार है श्रवण मनन निधि ध्यासन वो श्रवण मनन निधि ध्यासन विचार में सार श्रवण मनन के बाद निधि ध्यासन करते ब्रह्माकार वृत्ति होती है वो सारे ब्रह्माकार वृत्ति में परमाश्रेष्ठ वृत्ति के अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है वही सरस्वती देवी विद्या है ब्रह्माकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य विद्या है सरस्वती वही परमा सार में परमा सारे वृत्ति उसमें परम श्रेष्ठ वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म है सरस्वती आद्याम वो आदो भव आद्या सब के आदि में आद्य है सब के आदि क्या था तो उसके पहले कोई नहीं वो अनादि है आद्या है आदो सब के आदि में होने वाले आद्याम जगत व्यापिनीम वो जगत व्यापक है ब्रह्म स्वरूप है जगत व्यापिनीम आगे वीणा पुस्तक धारिणी हाथ में वीणा और पुस्तक धारण करने वाली सरस्वती माया विशिष्ट होकर के रूप धारण करके प्रकट होती है तो वीणा पुस्तक धारिणीम अभय दाम अभय प्रदान करने वाली माँ भैसी रीतिवादी अभय देने वाले सबको जो संन्यास लेते हैं सबको अभय प्रदान करते हैं किसको भय नहीं हो चलते समय पशु पक्षी को भी भय नहीं लगे ऐसा चलना चाहिए कोई पशु लेटा हुआ है दौड़ कर गए डर कर भाग जाता है आराम से दूर में जा दूर से जाना चाहिए अभय सबको दे करके संन्यास लेते हैं या और ये अभय प्रदान करने वाले सबसे दान बड़ा दान है अभय प्रदान या अभय प्रदान करने वाली वस्तु तो अभय तो तभी होता है ब्रह्म ज्ञान होने पर नहीं तो भय रहता है द्वितीयाद वे भय भवती भेद बुद्धि जब तक है भय होता है तो अभय देने वाले मतलब भय बुद्धि को नष्ट करने वाली विद्या अभयदान जाड्यांधकारापहाम अभयद कैसे करते जाड्य रूप अंधकार अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिका मालिकाम विदधतिम धारण करने वाली सत्रियंते हस्ते स्फाटिक स्फाटिक मालिका स्फटिक से यमित स्फाटिक स्फाटिक मालिका स्फटिक से निर्मित मालिका को धारण करने वाले हस्ते स्फाटिक मालिका विदंधति पद्मासने संस्थित पद्मासन में स्थित है वंदे आगे वंदे ताम परमेश्वरी परमेश्वरी परमश्चा ईश्वर से परमेश्वर स्त्रीलिंग में परमेश्वरी हो जाएगा परमाश परमाच और ईश्वरी परमेश्वरी भगवती भगवत है भगवती जा बुद्धि प्रदान शारदाम बुद्धि प्रदान करने वाली शारदा भी उनका नाम है उनको नमस्कार ये विद्या प्रारंभ में इनका मंगल सरस्वती का चिंतन करके विद्या आरंभ करना चाहिए पढ़ते समय भी घर में कभी भी हो सरस्वती की वंदना करके स्मरण करके अध्ययन करना चाहिए सामान्य विद्या तो हो जाती है किंतु देवी परमात्मा की कृपा से कुछ विशेष विद्या का फल प्राप्त होता है ग्रंथ भी पढ़ ले पंक्ति भी याद हो जाए शब्द भी बना लिया किंतु फल प्राप्त नहीं होता है आचारहीनम न पुनंति वेदा आचार शिष्टाचार पालन नहीं करने पर वेदजन्य ज्ञान नहीं होता वेद पवित्र नहीं करते हैं ये शिष्टाचार है कोई भी कार्य शुभ कार्य करते हैं तो मंगलाचरण करना चाहिए घर में भी बैठ कर पढ़े आराम से आसन लगा करके हाथ शुद्ध हो भगवान को प्रार्थना भगवान की प्रार्थना कुछ करके फिर पढ़े यहाँ भी पढ़ते समय जब कभी हो मंगलाचरण मन से करे पर ऊपर से नहीं आलस्य नहीं हो ये हमेशा सोचे केवल लघु कॉमेडी के लिए नहीं सर्वत सब पाठ में आलस्य प्रमाद छोड़ करके भक्तिपूर्वक भजन भगवान का ये सब निमित्त है इन सब निमित्त से भगवान की प्रार्थना भजन करना है व्यर्थ कभी नहीं होता है और यदि भजन नहीं करके व्यर्थ अन्य चिंतन किया तो समय व्यर्थ हो गया समय का सदुपयोग तो होता है ऐसे रोज मन से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए वरदराजाचार्य मंगलाचरण करते हैं बोलो सब नत्वा अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी कौन कहते हैं वरदराजाचार्य कहते अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी किम कृत्वा सरस्वती देवी नत्वा नमस्कार करके नत्वा सरस्वती देवी और विशेषण सरस्वती का क्या है शुद्धाम गुण्याम नहीं वो विशेषण नहीं करो में विशेषण नहीं शुद्धाम गुण्याम शुद्धा गुण्याम सरस्वती देवी नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी किमर्थम पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनि के जो ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ उसमें प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी ठीक ठीक पढ़ ले समय जितने लगे किंतु आरंभ करके पूरा करे पढ़ ले पूरा नहीं करके भागने वाले तो अधिक पूरा करने वाले के अपेक्षा जितने प्रारंभ करते उससे ज़्यादा भागते हैं ये संभव हो सकता है बताओ जितने प्रारंभ करते हैं उससे ज़्यादा पाठ छोड़कर भागते हैं संभव हो सकता है जितने प्रारंभ करेंगे उसकी अपेक्षा अधिक पाठ छोड़कर भागेंगे ये संभव है कैसे संभव होगा अधिक हाँ प्रारंभ करते जितने समय है ना आगे भी कुछ कुछ आएंगे आएंगे तो प्रारंभ में जितने संख्या है अंत करते समय संख्या और बीच में भी आएंगे वो प्रारंभ नहीं बीच में आएंगे और भागने वाले अधिक होते हैं तो प्रारंभ करने वाले से बीच में आने वाले से अंत में आने वाले से ऐसे भागते भागते कभी कभी ऐसे होता है प्रारंभ करने वाले कोई अलग है <laughs> पूरा करने वाले अलग है <laughs> कभी कभी यदि प्रारंभ करने वाले अंत तक रह गया तो आचार्य मानते बड़ा भाग्य हमारा है <laughs> <laughs> पढ़ने वाला खुश हो तो अथवा नहीं हो पढ़ाने वाले खुश हो जाते चलो एक कमी कम से कम पूरी लघु पढ़ा दिया पहले हम लघु पढ़ाते समय बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे बहुत अच्छा तैयारी करते थे बहुत काशी जाते समय ऐसे विद्यार्थी कितने रुने लगे महाराष्ट्र विद्यार्थी थे पचास साठ तो हो गए थे बहुत तो फिर मैं कहा था ठीक है जिन जिन्होंने लघु कम ने हमसे बहुत लोग पढ़ लिए थे मैं यही कहा था जिन्होंने लहकुंद मेरे से पढ़ी है यही गुरु दक्षिणा है सारा जीवन में कम से कम एक विद्यार्थी को प्रारंभ से लेकर अंत तक लघु कौंदी पढ़ा कर तैयारी करना आरंभ से अंत तक कोई आरंभ क्या छोड़कर चला गया फिर किसको पढ़ाए ऐसा नहीं आप ग्रंथ कितने बार पढ़ाओ एक विद्यार्थी कम से कम आपसे प्रारंभ से अंत तक पढ़े और थोड़ा तैयारी भी करें ये नहीं कि दो चार महीने पढ़ा दिया उसको कुछ नहीं आया और हमारा काम हो गया ऐसा नहीं पढ़ाने का मतलब पढ़ाना सुना देना नहीं पढ़ाना जैसे किसको खिलाना अब मुखा बंद कर बैठा है तो खिलाना होता है इसी प्रकार खिलाना जैसे होगा वो खाएगा तो खिलाना होता है इसलिए पढ़ने वाले को पठनतम पाठ पाठयति ये व्याकरण में आगे आएगा पढ़ाने मतलब पढ़ने वाले को प्रेरणा देते हैं प्रेरणा देकर तैयारी कराते हैं तो सब यही मन में रखना पूरा करना और आगे जो पूरा करेंगे तो एक विद्यार्थी को कम से कम पूरा पढ़ाना प्रारंभ से अंत तक इसमें पहले प्रारंभ करने के पहले जिन्होंने जिनको मालूम है ठीक जिनको मालूम नहीं एक शब्द राम शब्द का रूप सब याद होना चाहिए सबको मालूम है बहुत को जिनको याद है मालूम है राम शब्द का हाथ उठाओ हाँ जिनको याद नहीं आता उठाओ राम शब्द जिनको याद नहीं कम है दो तीन अच्छा सब याद कर लेना राम शब्द का रूप कैसे बोलेंगे राम रामो रामा इति प्रथमा बोलो आगे रामम तृतीया रामाय मेभ्य चतुर्थी इति पंचमी हाँ। संबोधन में एक वचन क्या है हे हे राम हे राम नहीं हे राम कोई कोई सोते हमको तो याद है क्या बोलना जिनको याद है वो नहीं बोलेंगे और जिनको याद नहीं वो कैसे बोल सकते <laughs> तो कौन बोलेगा ऐसे बोलना सबको ये याद करना सबको जो ऐसा कल नहीं कैसा बोलना पड़ेगा केवल बहुवचन बोलो बोलो गजानन केवल बहुवचन केवल बहुवचन का रूप बोलो जिसको पूछेंगे वो बोलना हाँ ये क्या है वो ब्रह्मचारी याद है वो नहीं बोलो हैं नहीं हाँ बोलो हे नहीं नहीं हुआ केवल बहुचन बोला बोलो <laughs> रामे व्यक्ति ने बोल दिया ग्रह गया गया गया हाँ बोलो आप बोलो हाँ आप बोलो बोलो बोलो है ना नहीं और नहीं रुक जाओ रुकने गया तो गया बोलो ऐसा बोलना जैसे कोई सुने समझ ले अपने आप केवल समझना नहीं जो बोलना जैसे बहुवचन बोला ऐसे एक वचन बोलना होगा सप्तम विभक्ति से लेकर के प्रथमा तक बोलो पीछे वाले बोलो जोर से बोलो हैं नहीं एक वचन बोलना सप्तमी से लेकर प्रथमा तक कौन बोल सकता है पीछे वाला कोई बोलो बोलो हाँ बोलो ना अभी समझा नहीं बोलो रामानंद बोलो नहीं क्या क्या है बोलो बोलो बोलो जोर जोर से हाँ जल्दी नहीं हो तो कम से कम बोल सके और शब्द बोलते समय रूप याद होना चाहिए कहाँ का रूप चतुर्थी बहुवचन कहते समय रूप आ जाना चाहिए पंचमी बहुवचन क्या है तृतीय द्विवचन रामाभ्याम के सब लोग नहीं बोल पाए तृतीय द्विवचन पूछा था ष्ठी एक वचन बोलो और ष्टी एक वचन द्विवचन राम यो हो तृतीय एक वचन क्या है रामायण हाँ द्विवचन बोलना है महेंद्र बोलो द्विवचन के बोलो किसी का राम शब्द चला है केवल द्विवचन बोलना बोलो शुरू से गया इतने देर बोलो द्विवचन हाँ जब नहीं बताएंगे तो ऊपर से नीचे बनना और नीचे से ऊपर बनना है तो बताएंगे तो बनना अभी सप्तमी विभूति बहुवचन से एक वचन बोलना है बोलो शिव जोर से बोलो नहीं नहीं शिव आपका नाम है क्या गया व्यायाम हो गया बाएं तरफ बोलो ब्रह्मचारी ओ हाँ हो तो गया बीच में अटके गए तो गया बीच में अटके नहीं ऐसे प्रकार जैसे राम शब्द हुआ ऐसे हरि शब्द भी होना चाहिए बोलना सब हरि ही हरि हरय इति प्रथमा बोलो सब पहला रुको प्रथम एक वचन विसर्ग है क्या विचारण करना पड़ेगा हरि ही क्या बोलेंगे हरि हरि हरय इति प्रथमा ये कितने को याद है हाथ उठाओ नहीं पूरा सबको याद नहीं ये याद करना हरि शब्द का याद सब करना ऐसे केवल नहीं याद करने के एक वचन पूछेंगे बहुवचन पूछेंगे जिस किसको कभी पूछेंगे जिसको पूछेंगे बोलना पड़ेगा पूछा जाएगा अभी हरी शब्द जिस किसको याद है एक वचन केवल बोल सकते हैं हाथ उठाओ एक वचन केवल बोलना बोलो रुक जाओ नहीं वाह फेल ए केवल एक वचन बोलना इधर के इस लाइन में कोई है केवल एक वचन बोलो बोल सकते हो हाथ उठाओ हाँ बोलो जोर से बोलो हाँ नहीं हुआ हाँ बोलो एक वचन कोई है एक वचन केवल बोलना हाँ बोलो हाँ, हाँ हर कहाँ एक वचन आता है हाँ बोलो जोर से बोलो एक वचन बोलेंगे तो कैसे प्रथम एक वचन द्वितीय क्वेश्चन ऐसे बोलना पड़ेगा बहुवचन इस लाइन में दूसरे लाइन में कोई है बोलने के लिए हरि शब्द का केवल बहुवचन बोलना तीसरे लाइन में कोई है चौथे लाइन में नहीं पंचमी में कोई है कोई नहीं अच्छा <laughs> मतलब हरि शब्द का केवल बहुवचन बोलने के लिए बोल सकते हो रखो कौन आप बोलो हाँ जोर से बोलो सब सुने हम बहुवचन कौन बोलता है पहले पता चले हाँ हाथ उठाओ पहले हम पूछेंगे सब बोलना कौन बोलेगा हाँ? एक हाँ? एक बोलकर चुप हो जाते हैं हाँ इधर कौन है एक हरि शब्द का केवल बोलो बहुचन बोलो रुक जा रुक जा कौन बोल रहे क्या बोल रहे हो बहुवचन बोलो हम्म, एक वचन बोलो पहले बोला था क्या इसको बोला था अच्छा अच्छा एक वचन बोलना सप्तमी से प्रथमांत को ऐसे तैयार करना है समझे सब लोग जिनको याद नहीं तैयार करना है पूछेंगे फिर पाठ चलने से नहीं तैयार करना है जिस प्रकार राम शब्द हरि शब्द हुआ इस प्रकार और एक शब्द है मरुत शब्द हरि शब्द का रूप हमने बोला नहीं बोला बोलो हरि हरि हरय इति फिर बोलो हे हरे इति संबोधनम इसी प्रकार और एक शब्द है मरुत शब्द मरुत शब्द किसको याद है हाथ उठाओ नहीं इधर कोई नहीं मरुत शब्द एक भी नहीं एक एक इतने दो तीन तो लिखना पड़ेगा पुस्तक में है नहीं लिखो लिखो लिखो लिखो काल को याद करना बोल बोलो मर हाँ ये प्रथमा है जरूरत नहीं मरुत मरुत दो दो बनता एक हो जाएगा तो चलेगा लिखो मरुत मरुत मरुत रुका बोलो फिर इसको इति प्रथमा क्या लिखा बोलो सब इति प्रथमा द्वितीयावृत्ति क्या बनेगा मरुतम एक वचन में आगे दोनों डिटो मार देना मरुतम मरुतौ मरुत इति द्वितीया प्रथमा द्वितीय में बराबर है क्या बोले एक वचन में फर्क है तृतीया तृतीया बोलो हाँ बोलो मरुता मरुद्भ्याम मरुद्भि इति तृतीया द्विवचन में तो भ्याम भ्याम जोड़ देना तृतीया चतुर्थी पंचमी कोई भी शब्द आए तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन क्या बनेगा भ्याम जोड़ दो <laughs> क्या जोड़ देना भ्याम मरुत कहो तो मरुद्भ्याम हरि कहो तो हरिभ्याम राम कहो तो रामाभ्याम दीर्घ करना मरुद्भ्याम हो जाएगा मरुद्भि तृतीया हो गई बोलो तृतीया मरुता इति तृतीया चतुर्थी में मरुते मरुद्भ्या मरुद्भ्य बोलो मरुते मरुते मरुद्भ्या मरुद्भ्य इति चतुर्थी लिखा क्या लिखा बोलो इति बोलो चतुर्थी बोलो सब इति तृतीया बोलो इति तृतीया पंचमी बनेगा मरुत आगे मरुद्भ्याम मरुद्भ्य लिखो एक वचन है मरुत द्विवचन में भ्याम जोड़ दो बहुवचन में भ्य मरुत मरुद्भ्याम मरुद्भ्य इति पंचमी बोलो मरुद इति पंचमी षष्ठी एक वचन बनेगा बराबर पंचमी जो बना षष्ठी में हुई मरुत और द्विवचन है मरुतो हो बहुवचन में मरुताम मरुत मरुतौ मरुताम इति षष्ठी षष्ठी बोलो षष्ठी मरुत नहीं ष्टी बोलो मरुत द्वितीय बोलो द्वितीय द्विवचन षष्ठी द्विवचन में कोई फर्क है समान है समान जिनके हाथ उठाओ द्वितीय द्विवचन ष्टी द्विवचन समान है तो हाथ उठाओ नहीं समान नहीं समान है नहीं द्वितीय दिवचन में क्या है मरु तऊ ष्ठी दिवचन क्या है मरु तो हो विचार है क्या हाँ सप्तमी दिवचन में मरु तो बनेगा एक वचन क्या बनेगा मरुति मरुति तो हो मरुत्सु इति सप्तमी लिखो बोलो मरुति मरुतो हो मरुत्सु इति सप्तमी लिख लिया सो बोलो सप्तमी बोलो हाँ बोलना फिर सुर से मरुत इति प्रथमा संबोधन में ऐसा ही बनेगा हे मरुत हे मरुतो हे मरुत श्री गणेशाय नमः बोलो अथ संज्ञा प्रकरण अ रे रे लिख क सुनाई पड़ना चाहिए लेक कह करके जीवा को छोड़ना पड़ेगा रे लेक लग कर रहेगा तो क बोलो ट बोलो प बोलो सब बराबर हो जाएगा बोल करके जीवा को हटाना पड़ेगा देखो मैं कैसे बोलता हूँ रे लिक रे लिक रे लिका नहीं लिक हाँ बोलो अ ई उन हाँ रे लिक ए ओंग ए ओंग ऐ औच हाँ लण यामांगाणनम झ भै धस ज ग दश ख फ छ ठ थ च ट तब क पय क्ष सर हल श सर में पहला स तालव्य है यह बोलो य च य बोलते समय जैसे उच्चारण करते य क्ष श तालव्य है दूसरा है मूर्धा र बोलो र ट श वहीं जीवा लाकर बनेंगे र ट श जहाँ जीव लगता है र बोलो र ट वहीं जीवा लगा कर बोले श ये मूर्धन हो गया स र ट श श तृतीय होता है दंत स त थ द ध न त थ द ऐसे जीवा को लगा कर बोले स स क्या है स पहला स कैसे बोलेंगे श य च य श श श जीवा ऐसे हो जाएगा श दूसरा स कैसे ट ठ श श श तृतीय होता है दंत स स इसको बोलते समय उच्चारण कहाँ होता है समझ कर करना <clears throat> जो अंत में अनुबंध है उसका उच्चारण होना चाहिए प्रत्येक वर्ण को अलग अलग उच्चारण करना ऐसा नहीं अरुण रिलिक ऐसा नहीं कोई डर कर भाग जाएगा क्या बोलना अ ई उन प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए सुनने वाले समझ पाए आप ही को मालूम हो अयुण नहीं अ रे लिक ऐसा बोलना सब अ आगे कपय में को बोल दिया कपय य नहीं कपय जब गढ़ दश ऐसे स में अ नहीं बोलना कहीं कोई गलत तो बोल दिया था यहाँ ये ख फ छ ठ थ चट तब इति माहेश्वराणी सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इत हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ लण मध्ये त्वित संज्ञक ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात्